राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारे प्राकृतिक संसाधन दे देना क्यों दू क्यों दू दे देना मैं तो नहीं देता मैं तो नहीं देता अपनी पेंसिल दे देना नहीं तो मैं छीन लूंगा तू बाहर जाएगा तो देखना मैं पेंसिल ही गायब कर दूंगा दादा दादा देखो मुन्ना मेरी पेंसिल चुराएगा अरे धीरे बोलो मैं अभी आया और क्या पेंसिल नहीं देगा आ? हाँ? तो चुराऊंगा ही चोरी और सीना जोरी देखो दादा हम्म? जरा पेंसिल मांगी हम्म? तो दे नहीं रहा हम्म? खेलेगा मेरे साथ स्कूल जाएगा मेरे साथ <laughs> टॉफी मांगेगा मुझसे और पेंसिल देने में क्या दो क्या दो <laughs> क्यों भाई बीनू क्या बात है भाई देते क्यों नहीं अपनी पेंसिल मुन्ना को मैं क्यों दूं अपनी पेन से मुन्ना को ओफो यही तो बुरी आदत है तुम लोगों में दूसरों की चीज तो फौरन ले लोगे और अपनी चीज देने की बारी आई तो ए, ए करने लगोगे मैं नहीं दादा हम्म। यही है पक्का मतलब ही अच्छा जो झगड़ा करता रहता है हम्म। अब देखना तू कभी मैं तुझे अपनी कहानी की किताब दूं तो बिल्कुल नहीं दूंगा अरे तू भी तो बीनू का ही भाई है वो तो हूँ ही <laughs> अरे बुद्धू मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम भी बीनू की तरह नासमझी कर रहे हो नासमझी हम्म। नासमझी कैसी जैसे को तैसा ढेला ना पैसा ये मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी वैसा ही करूँगा बस तब तो हो गया काम अरे अगर सभी ऐसा करें तो काम कैसे चलेगा सभी हम्म। सभी कैसे दादा देखो मुन्ना अगर तुम बीनू को कहानी की किताब नहीं दोगे तो क्या होगा ये कहानी नहीं पढ़ पाएगा और बीनू तुम्हें अपनी पेंसिल ना दे तो तो हम्म। अरे फिर तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा <laughs> तो तुम्हें पता लगा ना कि एक दूसरे को अपना सामान न देने में तुम्हें ही घाटा है हाँ है तो हम्म। पर दादा हम्म। सबको अपनी अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए ना अरे सो तो है लेकिन फिर भी एक दूसरे की चीजों की जरूरत तो पड़ ही जाती है ना हाँ। अब पेंसिल ही को लो ये कहाँ से आई पिताजी बाजार से लाए थे और बाजार में कहाँ से आई बाजार में कहाँ से, से आई <laughs> नहीं पता ना नहीं। अरे भाई उत्तर प्रदेश में हिमालय के पर्वतीय ढालों पर या कश्मीर में कहीं मुलायम लकड़ी वाले पेड़ उगे होंगे हम्म। वहाँ से आई लकड़ी पेंसिल बनाने के लिए अच्छा हाँ और अगर तुम्हारी तरह वहाँ के लोग भी कहते कि क्यों दें हम अपनी लकड़ी तो अरे हाँ हमें पेंसिल कैसे मिलती फिर <laughs> अरे तुझे अपनी पेंसिल की लगी है हम्म। देखो बेटे हम्म। किसी भी छोटी से छोटी चीज को ले लो उसे बनाने में देश के किसी दूसरे भागों से मदद मिलती है अच्छा तुम्हारी अंगीठी किससे बनी है अरे भाई लोहे से जानते हो लोहा कहाँ से आता है आ, नहीं नहीं कहाँ से आता है लोहा देखो भाई लोहा खानों से खोद कर निकाला जाता है हमारे देश में बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हम्म। कर्नाटक अच्छा। और महाराष्ट्र में भी लोहे की खाने हैं और वो लोग अपना लोन लेने देते हैं दूसरों को तो क्या तेरी तरह है सब तू चुप रह <laughs> अरे भाई हमारा देश एक है हम्म। हम सब देशवासी एक हैं अच्छा। इसमें दूसरा और तीसरा कैसा भला ये तो है दादू <laughs> अच्छा ये बताओ अंगीठी में क्या जलाया जाता है कोयला अब देखो कोयला भी खानों से निकलता है कोयले के खाने कहाँ है दादा भाई कोयले के खाने सबसे ज्यादा तो बिहार हम्म। पश्चिम बंगाल हम्म। मध्य प्रदेश हम्म। और आंध्र प्रदेश में है अच्छा लेकिन असम तमिलनाडु महाराष्ट्र हाँ। और उड़ीसा में भी कोयला मिलता है अच्छा वहाँ की खानों से निकला कोयला देश भर में चूल्हों रेलों के इंजनों हाँ। और कारखानों की भट्टियों को चालू रखता है अच्छा। पर दादा हम्म। अब तो कोयले की जगह तेल से भी चूल्हे जलते हैं और <laughs> गैस से भी और रेलें डीजल से चलने लगी हैं हमारी दीदी कह रही थी <laughs> हाँ। मगर भाई तेल और गैस भी तो सब जगह नहीं निकलते ना बम्बई हम्म। हाई में निकालते हैं और गुजरात में भी तो तेल निकलता है अरे अंकलेश्वर में <laughs> असम में भी दिग्बोई हम्म। और कटिया में तेल निकलता है अच्छा। जमीन में खोदे गए कुओं से ही गैस निकलती है अच्छा अब देखो गुजरात असम हम्म। और महाराष्ट्र में निकलने वाली गैस हम्म। और तेल कश्मीर से तमिलनाडु तक देश भर के लोग इस्तेमाल करते हैं अगर वो दूसरों को न दे अपने राज्य की चीजें तो <laughs> अरे भाई ये किसी एक व्यक्ति के थोड़े ही हैं कोयला लोहा हम्म। तेल हम्म। गैसें जंगल नदी ये सब प्राकृतिक संसाधन तो सबके होते हैं प्राकृतिक संसाधन हम्म। प्राकृतिक संसाधन क्या दादा अरे प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति ने जो चीजें हमें दी हैं अच्छा और हमारे किसी ना किसी काम में आ सकती हैं अच्छा जैसे कोयला हम्म। लोहा हाँ। गैस जंगल नदी हम्म। मिट्टी सच दादा हाँ ये सब चीजें हम सब की हैं क्या मेरी भी <laughs> अरे हाँ तेरी भी लेकिन बंद करके अलमारी में रखने के लिए नहीं सबके साथ बांट कर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा हम्म। नदी से हमें क्या मिलता है अरे भाई मछली मिलती है हम्म। नदी के पानी से सिंचाई करते हैं अच्छा। हिमालय से निकलने वाली गंगा उत्तर प्रदेश हम्म। बिहार हाँ। पश्चिम बंगाल के खेतों को सींचती है अच्छा। कृष्णा नदी हम्म। महाराष्ट्र कर्नाटक और हम्म। आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों को पानी देती है अच्छा इसके अलावा नदियों पर बांध बनाकर बिजली भी पैदा की जाती है बिजली और क्या बिजली पर बिजली तो बिजली घर से आती है <laughs> अरे बिजली घर में बिजली कहाँ से आती है हाँ। भाई नदी के जल से ही तो बिजली बनती है हाँ। जैसे सतलुज नदी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के खेतों को सींचती है और बिजली भी देती है दादू हम्म। कृष्णा और सतलुज का पानी और उनसे बनी बिजली क्या सबको मिल जाती है सब लोग बांट कर इस्तेमाल करते हैं <laughs> और क्या भाई सब मिलकर रहें तो हम सबके लिए अच्छा है देश के किसी भी भाग में रहें हमारा देश तो एक है हाँ हम, हम सब एक हैं हम एक हैं हम एक हैं हम एक हैं वाह एक होकर रहने से ही तो हमारा देश उन्नति कर रहा है कैसे अरे जैसे कि नदियों के पानी से बनी बिजली से कारखाने चलते हैं तेल से मोटर जहाज रेलें और ट्रैक्टर चलते हैं लोहे और कोयले से कारखानों में कितनी ही नई चीजें बनती हैं अच्छा हाँ दादा कहीं भी नई चीज बनती है हम्म। तो उन्हें बंगाल और असम में पैदा हुए पटसन से बनी हुई बोरियों में ही तो रखा जाता है या फिर <laughs> लकड़ी की पेटियों में हम्म। हाँ भाई ये पेटिया हिमाचल प्रदेश कश्मीर या उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ों की लकड़ी से बनी होती हैं। दादा हुँ? हम्म? क्या हमारी मेज की लकड़ी भी वहीं से आई है नहीं मेज कुर्सी हुँ? हम्म? पलंग अलमारिया हम्म? अलमारियां वगैरह बनाने के लिए लकड़ी पश्चिम बंगाल असम उड़ीसा मध्य प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु से आती है अच्छा हम्म। पर दादू कर्नाटक और तमिलनाडु से तो मसाले भी आते हैं ना <laughs> हाँ, हाँ। कर्नाटक तमिलनाडु और केरल से देश भर को मसाले मिलते हैं हमारे देश में कितनी चीजें होती हैं दादा हम्म। हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं हाँ अब समझे ना मिलजुल कर रहने से सबको सब कुछ मिल जाता है सारे देशवासी एक हैं हम सारे देश के हैं और सारा देश हमारा, है और सभी प्राकृतिक संसाधन हम सब के हैं हम सब एक साथ मिलकर इनका लाभ उठाएंगे